हाँ तो अब शुरू करें मैडम विक्रांत ने नैना की तरफ देखकर गहरी सांस छोड़ते हुए कहा फिर उसने हल्का खराश लेकर अपना गला साफ किया और साजिद की तरफ देखकर बोला देखो साजिद मेरी बात ध्यान से सुनो हम दोनों का इस केस से कोई भी लेना देना नहीं है हम यहाँ तुमसे जबरदस्ती कोई बयान लेने के लिए नहीं आए हैं हम यहाँ बस इसलिए आए हैं ताकि सच सामने आ सके अब अगर तुमने सच में कोई मर्डर नहीं किया है तो फिर हम तुम्हें सजा नहीं होने देंगे तो एक तरह से ये समझ लो कि हम तुम्हारी मदद करने के लिए ही आए हम तुम्हारा कोई नुकसान नहीं कर रहे हैं समझे तुम विक्रांत की बात तुरंत ही साजिद की समझ में आ गई उसने थोड़े कंफ्यूजन के साथ विक्रांत को जवाब दिया साहब मैं तो आप लोगों को बता ही चुका हूँ कि मुझे सच में नहीं पता कि मैंने मंजू मैडम का मर्डर किया था या नहीं आप भला कैसे जान सकते हैं हम्म, पता है मुझे विक्रांत ने बड़ी सफाई से झूठ बोलते हुए कहा देखो साजिद मैं मैं प्रोफेशनल हिप्नोटिस्ट हूँ मतलब मैं लोगों को अपने वश में कर लेता हूँ और उनके मन की बात जान सकता हूँ तो तुम्हें बस इतना करना है कि तुम मेरे सभी सवालों का ढंग से जवाब दो फिर मैं सब सच सच बता सकता हूँ कि उस रात क्या हुआ था विक्रांत की बात सुनकर नैना उसकी तरफ हैरानी से भरी नजरों से देखने लगी ये आदमी कितनी सफाई से झूठ बोलता है हे भगवान साजिद भी इस वक्त विक्रांत की तरफ हैरानी से देख रहा था हिप्नोटिस्ट मतलब विक्रांत ने साजिद को विश्वास में लेने के लिए आगे बोला तुम्हें याद है ना मैंने तुम्हें कैसे पकड़ा था साजिद सोच में पड़ गया अभी भी उसे अच्छे से याद था कि उस रात विक्रांत उसे नजर ही नहीं आ रहा था सिर्फ एक साइकिल उसकी तरफ चली आ रही थी वो मन ही मन सोचने लगा कि क्या सच में ऐसा हो सकता है क्या विक्रांत उसके हाव भाव से ही समझ गया कि साजिद के दिमाग में क्या चल रहा है उसने साजिद के बिना कुछ पूछे ही उससे कहा हाँ उस रात मैंने तुम्हें हिप्नोटाइज कर लिया था तभी तुम मुझे नहीं देख पा रहे थे अब विश्वास हुआ तुम्हें अब जाकर साजिद को भी विक्रांत की बात पर पूरा यकीन हो चुका था लेकिन अब वो इस बात से और ज्यादा डर गया था कि अगर कहीं सच में उसके हाथों से मंजू का मर्डर हुआ होगा तो फिर उसका बचना मुश्किल है ए विक्रांत ने हंसते हुए कहा लेकिन तुम बिल्कुल चिंता मत करो मैं और दूसरे लोगों जैसा नहीं हूँ तुम बस मेरे सवाल का जवाब हाँ या ना में देना और हाँ डरने की कोई जरूरत नहीं है अगर कुछ गलत आंसर भी दे दोगे तो भी कोई बात नहीं हाँ क्या साजिद पूरी तरह से सन्न रह गया उसे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था विक्रांत के साइड में बैठी नैना भी सारा सीन बड़े ध्यान से देख रही थी उसे विक्रांत के इंटेरोगेशन का तरीका अच्छे से पता था वो बस आराम से बैठकर शो को एंजॉय कर रही थी अच्छा रुको रुको पहले एक प्रैक्टिस करते हैं फिर सब क्लियर हो जाएगा तुम्हें विक्रांत ने कहा तुम मेल हो या फीमेल विक्रांत ने सवाल किया हाँ साजिद ने जवाब दिया तुम फीमेल हो नहीं साजिद ने जवाब दिया तुम गए हो विक्रांत ने सवाल किया इस तरह के दो तीन सवाल करने के बाद विक्रांत अब लाई डिटेक्टर मशीन को ऑन करके इंटेरोगेशन शुरू करने लग गया इस वक्त विक्रांत को थोड़ा रिग्रेट भी फील हो रहा था दरअसल वो इस लाई डिटेक्टर को किडनैपिंग केस के मुजरिम से पूछताछ करने के लिए बचा कर रखना चाहता था लेकिन उसे मजबूरी वश इसे अभी ही इस्तेमाल करना पड़ रहा था लाई डिटेक्टर ऑन करने के बाद विक्रांत ने साजिद से पहला सवाल किया साजिद क्या तुमने मंजू सचदेवा का मर्डर किया नहीं साजिद ने जवाब दिया और इसके साथ ही विक्रांत के दिमाग में हरे रंग की लाइट जल उठी ओ विक्रांत सोच में पड़ गया यानी कि मेरा शक सही था साजिद ने सच में मंजू का मर्डर नहीं किया है यानी कि उस रात वहाँ कोई और भी था अगर तुमने नहीं किया तो ये कौन हो सकता है किसने मर्डर किया है विक्रांत का ये सवाल सुनकर साजिद सोच में पड़ गया सर इसका मैं हाँ या ना में कैसे जवाब दू मुझे पता नहीं साजिद ने जवाब दिया लेकिन इस जवाब के साथ विक्रांत के लाइट डिटेक्टर ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया शायद ये मशीन सिर्फ सीधे सवालों को ही चेक कर पाती है इसलिए विक्रांत ने सवाल को थोड़ा घुमाकर पूछा क्या तुम जानते हो कि मंजू सचदेवा का मर्डर किसने किया नहीं फिर से हरी लाइट जल उठी यानी कि साजिद सच बोल रहा है ना तो उसने मंजू का मर्डर किया और ना ही उसे पता है कि मंजू का मर्डरर कौन है अब विक्रांत सोच में पड़ गया ये सब उसकी उम्मीद से बाहर था पहले उसे लगा था कि हो सकता है साजिद को पता हो कि मंजू का मर्डरर कौन है लेकिन अब सब कुछ साफ हो चुका है अब विक्रांत के दिमाग में एक और सवाल आया ये सवाल जहां तक है सब कुछ क्लियर कर देगा विक्रांत ने फिर से साजिद से पूछा अच्छा क्या मंजू के मर्डर का रिलेशन उन्नीस के किडनैपिंग केस से है जब विक्रांत ने उन्नीस के किडनैपिंग केस का नाम लिया तब साजिद को थोड़ी हैरानी हुई उसे कुछ समझ नहीं आया कि आखिर विक्रांत उससे ये सवाल क्यों कर रहा है टाइम वेस्ट मत करो जल्दी हाँ या ना में उत्तर दो विक्रांत ने कहा नहीं हम्म, हाँ हाँ साजिद ने हड़बड़ाते हुए कहा विक्रांत के लाइट डिटेक्टर में इस जवाब पर कोई डिसीजन नहीं दिया शिट यार विक्रांत ने अपने माथे पर हाथ रख लिया उसे इतना समझ में आ गया था कि ये लाई डिटेक्टर ऐसे किसी भी सवाल का जवाब नहीं देगा जो कि किसी ऐसे इंसान से पूछा गया हो जिसका उस सवाल से कोई लेना देना ना हो विक्रांत को पहले लगा था कि लाई डिटेक्टर मशीन हर तरह के सवाल पर अपना डिसीजन दे सकती है इसलिए अभी उसे थोड़ा दुख हुआ यानी कि अब विक्रांत किसी भी रेंडम आदमी के साथ लाई डिटेक्टर टेस्ट नहीं कर सकता विक्रांत जिस तरह के सवाल तैयार करके लाया था वो सब बेकार हो चुके थे उधर साजिद भी काफी हैरान था उसे समझ नहीं आ रहा था विक्रांत ये किस तरह का इंटेरोगेशन कर रहा है उसने डरते हुए विक्रांत से सवाल किया सर हो गया इंटेरोगेशन चुप करो शांति से बैठे रहो जितना पूछा जा रहा है बस उतना जवाब दो विक्रांत अभी हार नहीं मानने वाला था अच्छा ये बताओ क्या तुम्हारा उन्नीस के किडनेपिंग केस से कुछ कनेक्शन है नहीं हरी लाइट जल उठी फिर से विक्रांत को झटका लगा अब तक एक एक बात तो क्लियर हो चुकी थी कि साजिद का ना तो मंजू के मर्डर से कोई कनेक्शन था और ना ही उन्नीस के किडनैपिंग केस से तो फिर जिस आदमी ने मंजू का मर्डर किया है क्या उसका रिलेशन उन्नीस के किडनैपिंग केस से भी है विक्रांत फिर से रेंडम सवाल करके लाई डिटेक्टर टेस्ट को परखने की कोशिश कर रहा था हाँ हाँ साजिद ने जवाब दिया उसे लग रहा था कि शायद इससे उसके ऊपर लगा इल्जाम हट सकता है फिर से विक्रांत के लाई डिटेक्टर ने कोई रिएक्शन नहीं दिया विक्रांत कुछ चिड़ मच रही थी एक बार के लिए तो उसे ये भी शक होने लगा था कि ये मशीन सही भी है या नहीं उसने अपने सामने रखी नोटबुक को भी बंद करके साइड में रख दिया कुछ पल तक विक्रांत सोचता रहा और फिर उसने अगला सवाल किया अच्छा ये बताओ क्या तुम मंजू सचदेवा के मर्डर केस में जानबूझकर फंसाए गए हो हाँ हाँ हाँ साजिद ने तुरंत ही जवाब दिया और फिर तुरंत ही विक्रांत के दिमाग में हरी लाइट जल उठी यानी कि साजिद सच बोल रहा है अच्छा क्या उस रात तुम शराब और ड्रग्स के नशे में थे विक्रांत ने सवाल किया हाँ फिर से हरी लाइट जल उठी क्या तुम मंजू के मर्डर वाले प्लेस पर अकेले गए थे पता नहीं साजिद के मुंह से निकल पड़ा इस जवाब के साथ ही विक्रांत के दिमाग में लाल लाइट जल उठी यानी कि साजिद गलत बोल रहा है वो मंजू के मर्डर प्लेस पर अकेले नहीं गया था उसके साथ कोई और भी था अब विक्रांत ये जानना चाहता था कि साजिद मर्डर प्लेस तक कैसे पहुंचा था लेकिन लाइट डिटेक्टर मशीन सिर्फ हाँ या ना वाले जवाब पर ही रिएक्ट करती है इसलिए विक्रांत ने सवाल को थोड़ा घुमाकर पूछा क्या मंजू का मर्डर गाड़ी को खुद ही ड्राइव करता हुआ तुम्हें वहाँ ले गया था हाँ हरी लाइट जल उठी विक्रांत को थोड़ी खुशी हुई क्या मंजू के मर्डर के वक्त तुम होश में नहीं थे उसने आगे सवाल पूछा हाँ हरी लाइट जल उठी फिर आगे विक्रांत ने पूछा क्या मंजू का मर्डर कोई मेल था आ, आ, क्या साजिद सोच में पड़ गया ये भला मुझे कैसे पता होगा लेकिन फिर उसने अपने जवाब देने के क्राइटेरिया का याद आया तो फिर उसने बिना कुछ सोचे समझे जवाब दे दिया हाँ लेकिन इस जवाब पर लाइट डिटेक्टर मशीन ने कोई रिएक्शन नहीं दिया क्योंकि साजिद उस वक्त बेहोश था और उसका मंजू के मर्डर से कोई कनेक्शन भी नहीं था हो सकता है उस वजह से मशीन ने कोई रिएक्शन ना दिया हो लेकिन फिर भी मशीन को रिएक्शन तो देना चाहिए था ना आखिर साजिद तो मर्डर प्लेस पर ही मौजूद था विक्रांत हैरत में पड़ गया वो कंफ्यूज हो रहा था तभी उसके बगल में बैठी नैना ने विक्रांत के कान में कुछ फुसफुसाया फिर विक्रांत ने साजिद की तरफ देखते हुए कहा अच्छा साजिद ये बताओ मंजू का मर्डर एक आदमी ने किया था ना नहीं साजिद ने जवाब दिया लेकिन इस बार भी मशीन में कोई रिएक्शन नहीं दिया फिर विक्रांत को लगा कि शायद उसने सही से और स्पष्ट आवाज में सवाल नहीं किया इसलिए मशीन ने रिएक्शन नहीं दिया विक्रांत ने दोबारा से थोड़ी स्पष्ट आवाज में सवाल किया मंजू का मर्डर एक से अधिक लोगों ने मिलकर किया है हाँ इस बार साजिद के जवाब के साथ ही हरी लाइट जल उठी यानी कि मंजू का मर्डर एक से ज्यादा लोगों ने मिलकर किया है ये कंफर्म हो चुका है